1C Vocabulary क्या कैसे कैसी हाँ हाल जी बहुत अच्छा ठीक भी आजकल मैं कहा और छुट्टी खुशी अभी जल्दी फिर फिर से